धीरे धीरे धीरे करके भक्त लोगों को भी शुरू में ये बात समझ नहीं आती लेकिन बाद में जब भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं तब उन्हें पता चल जाता है कि भक्ति का रूप क्या है कैसे भक्ति होती है कैसे भगवान की सेवा कैसे की जाती है समझ में आ जाए इसलिए सेवक सेव्य भाव दिन भव न करिए उड़गार और भय राम पद पंकज अस सिद्धांत विचार ऐसा विचार करके भगवान श्री राम जी के जो चरण कमल है उनका अध्ययन करो अब इनमें शाब्दिक अर्थ के बजाय सांकेतिक अर्थ भी इनका है शाब्दिक अर्थ भगवान के चरण कमलों का भजन करो उनका भगवान के चरण कमलों का स्मरण करो ये भी है लेकिन भगवान के जो चरण कमल हैं जो शास्त्र में है वो भगवान के चरण कमल है शास्त्रों का भी सेवन करो तो जो शास्त्रों का सेवन जैसे रामचरित मानस है हाँ, तो इसका अध्ययन करो गीता है शास्त्र है उपनिषद शास्त्र है इनका भी अध्ययन करते रहो क्षमा करते रहो सुनते सुनाते रहो तो ये क्या हुआ ये भगवान के चरणों की सेवा होती रही इस तो सेवा के तो फलस्वरूप धीरे धीरे परमात्मा प्रसन्न होगा और हृदय में प्रकट भी होगा तो इस तरह से यह है इनके सबसे तात्पर्य भक्ति का भी ऐसे वर्णन करते हैं भक्ति का जो कुछ न कुछ आप हर कोई लगा ले अज्ञानी भी लगा ले ज्ञानी भी लगा ले अज्ञानी लोग लगा लेंगे भगवान के चरण करने को मैंने मंदिर में जाए भगवान की मूर्ति है उनके कैंट होने और उनके चरणों के ऊपर पुष्प चढ़ाया है हम्म? तो ये हो गई भगवान के चरणों की पूजा होगी ठीक है वो भी भगवान के चरणों की पूजा है जिनको और ज्यादा नहीं समझ में आता इतनी करें लेकिन आगे चल करके जब उनको समझ में आगे अगर चित्र शुद्ध होगा शत्रुगुण की वृद्धि होगा शास्त्र में प्रीति होगी तो शास्त्र का नित्य घंटे आधे घंटे अध्ययन करे तो ये भगवान के चरणों की सेवा होगी और समस्त भगवान के विग्रह की सेवा तो सारे जगत की सेवा में लगे शास्त्र का भी अध्ययन करे और फिर लोक कल्याण के कार्य में समस्त जीवों के प्राणियों के मनुष्यों के जगह जगह जहाँ जहाँ हैं तो जहाँ अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो सेवा कर सकता है जिस प्रकार की योग्यता क्षमता भगवान ने दी है वो किस लिए दी है वो परमात्मा के विराट परमात्मा की सेवा के लिए दी है अगर किसी व्यक्ति के शरीर में बल है तो सभी शारीरिक सेवा करे अगर किसी की बुद्धि में बल है तो बौद्धिक सेवा करो ये सब इस प्रकार की सेवा करते करते सब व्यक्ति को जो हो ये भगवान की आराधना आगे बढ़ती है कोई व्यक्ति डॉक्टर है तो भगवान ने किसी को डॉक्टरी की वैद्य की योग्यता किस लिए दी है कि जिससे कि वो प्राणियों के का तमाम बीमार लोग तमाम संसार में कितने होते हैं उनको ढूंढ ढूंढ करके जो आने मिले उनके सबके रोगों का उपचार करें उनको जो दो प्रकार के डॉक्टर वैद्य होते हैं एक लौकिक होते हैं और एक पारमार्थिक होते हैं जो आध्यात्मिक साधना करने वाले होते हैं लौकिक लोग होते हैं वो मरीज आता है तो उसको दया देते हैं पैसा लेते हैं और उससे उनकी चिंता अपनी चलाते हैं ये तो संसारी वैद्य हैं डॉक्टर हैं और जो आध्यात्मिक साधना करने वाले हैं वो ऐसे ही मरीजों की दवा तो करेंगे उनको लेकिन दवा करने के साथ साथ उनको समझाएंगे ज्यादा कि देखो ये तुम्हें रोग कैसे हो जाता है उसका क्या क्या कारण है क्या परहेज तुम्हें करना चाहिए कैसे तुम आगे दोबारा तुम्हारा रोग कैसे नहीं होगा इस प्रकार से उनको जो है ये जो मेडिकल इंफॉर्मेशन है वो उनको देते हैं या हेल्थ के संबंध में स्वास्थ्य के संबंध में जो ज्ञान है उनको समझाते हैं तो जब समझ में आ जाता है व्यक्ति को तो दवा तो खाते ही है ठीक हो जाता है साथ साथ दोबारा फिर उसको उस प्रकार का नहीं कार्य करता है जिससे कि दोबारा रोग उसको हो सावधान हो जाता है उस प्रकार से तो ऐसे लोग करते हैं फिर जो लोग आध्यात्मिक साधना करने वाले डॉक्टर हैं वो लोग दवा देते हैं दवा के साथ साथ भगवान का भी नाम लेते हैं उससे कहते हैं देखो भाई दवा कम देते हैं और अच्छा कम करता है अच्छा नामकरण दवा करो अच्छा करने वाला परमात्मा है परमात्मा अच्छा करता है तुम्हें स्वस्थ बनाएगा परमात्मा बनाएगा ऐसे करके उसके अंदर परमात्मा भाव भरते हैं उसको दवा भी देते हैं दवा के पीछे पैसा दे सकता है तो पैसा दे दिया नहीं दे सकता तो न दे दे जहाँ कहीं से साधन जता जुटे करके कहीं से दवा उपलब्ध करके उसको किसी न किसी प्रकार से उसकी रोग निवारण के लिए प्रयास करे अब इस प्रकार जब व्यक्ति में देखे रोगी में देखे कि परमात्मा का ही एक रूप इस रोगी के रूप में हमारे पास आया है परमात्मा ने हमको ये अवसर दिया है कि हम परमात्मा की सेवा इस रोगी के द्वारा कर सके इसलिए उसने हमको हमारे पास भेजा तब वही कर्म कैसा बन गया उपासना बन गया भक्ति बन गया हम्म, साधना बन गया ये और साधना कैसे बनाई जाती कैसे की जाती है उसको रूप कैसे दिया जाता ये तरीका तो है तो सबके अपने अपने इसी प्रकार से भगवान ने अपनी अपनी क्षमता योग्यता नाना प्रकार से व्यक्तियों को दी है जिसको जैसी दी है उस उस प्रकार से उसको प्रयोग में लाओ भगवान ने व्यक्ति को कुछ न कुछ शक्ति हर व्यक्ति को दी लेकिन अपनी उस शक्ति का वो प्रयोग परमात्मा की सेवा नहीं लगाता अपने साथ में लगाता पैसा कमाने के लिए लगाता कि जरूर हमारे पास तो जरूर है विद्या जरूर हमारा पास है लेकिन हम उससे पैसा कमाएंगे उससे फिर हम विशेष लोगों में अपने समय पैसा को लगाएंगे ऐसा करने वाले फिर भगवान के भक्त नहीं है जो फिर विषयों के भक्त हो गए और फिर ऐसे लोगों के संसार सागर में पड़ते हैं चक्र में पड़ते हैं इस प्रकार लेकिन वही कार्य को भगवत रूप दे दिया प्रदान कर दिया भगवान की भक्ति बना दिया उपासना बना दी तो बस वही मुक्ति के कारण बन गई व्यक्ति जीविका तो चलती है जीवन तो चलते ही चलता है दोनों का ही चलता है लेकिन एक व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के कारण पतन में जाता है दूसरा व्यक्ति वही भगवान की सेवा करके लौकिक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है और परमात्मा भी शुद्ध कर लेता है दोनों कार्य हो जाते हैं तो इस प्रकार से वो करता है अब कहते हैं कि देखो थोड़ा भगवान का स्मरण दिलाते हैं कहते हैं कि भजे उरावण सद पंकज अस सिद्धांत विचार अब भगवान कौन है उनका ज्ञान कराते हैं कि देखो जो चेतन कहा जल करे परमात्मा उसे कहते हैं जो अपने चेतन स्वरूप को भी जल प्रदान कर देता और जल ही करे चैतन्य और जब जड़ बन गया तो उसमें जड़ता में भी चेतना उत्पन्न कर देता है देखो कैसा परमात्मा विचित्र है चेतन से जड़ बना दे और जड़ से चेतन बना दे कहते ऐसा समर्थ रखना है कहीं ये पद्रम परमात्मा ऐसा समर्थ उसी को भगवान राम कहते हैं भजन जी होते धन्य परमात्मा कैसा महान है ऐसे परमात्मा का भजन करना चाहेंगे तात्पर्य क्या हुआ कि परमात्मा तो जो ब्रह्म है परमात्मा है वही राम है और वो सच्चिदानंद स्वरूप है उसका चेतन स्वरूप सब स्वरूप है चेतन स्वरूप है आनंद स्वरूप है उस परमात्मा से कि माया शक्ति के द्वारा जगत की उत्पत्ति हुई जगत का विस्तार हुआ तो जगत जगत तो जल है ये जल कहाँ से आ गया तो वही परमात्मा चेतन परमात्मा ने ही अपनी माया की शक्ति के द्वारा जल जगत का रूप धारण कर लिया पहले वो चेतनी चेतन था अब उसमें उसकी अद्भुत माया शक्ति है रचनी अघटित घटना पतियसी माया उसने जो है जगत की रचना करके रख दी अब जगत कैसा है जैसा परमात्मा के लक्षण है उससे विपरीत लक्षण वाला जगत बना दिया परमात्मा चेतन था तो जगत जल बन गया परमात्मा अनादि यंत्र था तो जगत आदि वाला हो गया परमात्मा अखंड एक था तो जगत खंड खंड बन गया परमात्मा आनंद स्वरूप था तो जगत आनंद विहीन हो गया हम्म? दुख रूप हो गया जगत परमात्मा जो है वो निर्विकार था जगत विकार हो गया इस प्रकार से विपरीत लक्षण वाला परम जगत बन गया तो किसने बना दिया वो परमात्मा की माया शक्ति के द्वारा तो बनाई है और कहा गया है परमात्मा के सामर्थ्य देखो कि जिसकी की माया शक्ति उसकी परमात्मा जो अनेक शक्ति संपन्न है उस शक्ति में से एक शक्ति उस परमात्मा की माया भी है और उस माया के द्वारा कर परमात्मा जो जगत की रचना करके ऐसे की जगत की रचना उसने कर दी तो अब जगत को देख करके समझ लो माया शक्ति कितनी प्रबल होगी और वो माया शक्ति का स्वामी कितना समर्थ होगा ऐसे जान और कहते ये लीला यहीं पर समाप्त नहीं हुई इस जड़ जगत से पांच भौतिक जगत है इस पांच भौतिक जगत से ही बना पांच भौतिक शरीर इसमें प्राण भी इसी भौतिक जगत से ही प्राण भी बने मन भी बना बुद्धि भी बना जगत के दो रूप है एक सूक्ष्म जगत एक स्थूल जगत स्थूल जगत से स्थूल कर्म शरीर बन गया और सूक्ष्म जगत से सूक्ष्म शरीर बन गया प्राण मन बुद्धि इत्यादि इंद्रिया है ज्ञानेन्द्रिया है कर्मेन्द्रिया है ये सूक्ष्म जगत की रचना है और सब जल स्थूल शरीर जो है स्थूल जगत से बना हुआ जल जगत है तो स्थूल शरीर भी उसी प्रकार हो जाए जैसे कि स्थूल जगत पंच भौतिक जगत जो है वो आदिंत वाला है विकारी है परिवर्तनशील है वही लक्षण शरीर के भी इसी प्रकार जो सूक्ष्म जगत है वो भी विकारी है परिवर्तनशील है जड़ है उससे बना हुआ सूक्ष्म शरीर भी वैसे ही अब उस परमात्मा ने क्या किया इस जल सृष्टि को शरीर बना करके स्थूल सूक्ष्म शरीर बना करके इसको चेतन बना दिया था परमात्मा इस शरीर के भीतर समस्त प्राणियों को शरीर बनाए और फिर उसमें शरीर में सीमानंद गिरे है जीव इन कनिष्य वो इनकी सीमा को विदीर्ण करके फिर वो परमात्मा जीव भाव से प्रवेश हो गया तो परमात्मा जब जीव भाव से प्रवेश हुआ तो शरीर कैसा हो गया जब शरीर चेतन लगने लगा कि जीवन है जीवन है उस परमात्मा के कारण से जीवित लगने लगा ये मन बुद्धि सब जल थे लेकिन उनमें भी चेतना आ गई विचार करने की सामर्थ्य आ गई अहंकार आ गया ये सब परमात्मा जब इसमें प्रविष्ट हुआ तो उसकी चेतना से इनमें सब में चेतना आ गई देखो ये परमात्मा कैसे समर्थ है जल से कुछ चेतन से तो उसने जल जगत बना दिया और जल जगत को भी चेतन बना दिया अरे शरीर जल था इसको तो जल दिखाई देना चाहिए लेकिन चेतन दिखाई देने लगा ये उसी लिए बात प्राण मन बुद्धि जल थे लेकिन अब वो चेतन लग रहे हैं हमको हम तो चेतन है हम तो चेतन है तो अपने मन को चेतन समझ रहे हैं बुद्धि को चेतन समझ रहे हैं इंद्रियों को चेतन समझ रहे हैं ये सब चेतना कहां से आ गई ये परमात्मा की लीला इसी ने इस प्रकार कर लिया तो देखो कितना महान परमात्मा है तो जड़ से चेतन कर दे चेतन से जड़ कर दे ये सब उसकी अद्भुत लीला है ऐसा परमात्मा है तब तो इसकी मैं नहीं खड़ी हुई ऐसे महाअवतार क्या होगा बस समझ लो कि ऐसा जो परमात्मा है उसके प्रभजन होगा तो मैंने ये कहकर के दिखाते हैं कि परमात्मा का जब भजन भी करो तो इतनी बात तो याद रखो कि परमात्मा से सारी जगत जल जगत के उत्पत्ति हुई और जल जगत से ही समस्त प्राणियों के शरीर सूक्ष्म स्थिर बने और उनमें जो जीवन है वो भी परमात्मा चाहिए तो भक्त को भी याद रखना चाहिए कि परमात्मा ही सब लीला होते हैं जगत है जीव है और समस्त जगत परमात्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है ऐसे समझ करके भगवान का भजन करें और यही स्मरण रखना भगवान का भजन बार बार चिंतन करते रहे स्मरण करते रहे और अपने शरीर से जगत की सेवा परमात्मा की सेवा करते रहे अपने मन बुद्धि से परमात्मा की सेवा करते रहे परमात्मा का स्मरण नहीं करते रहे बस ये आध्यात्मिक जीवन का रूप बन गया तो ऐसे असमर्थ रघुनाए कहीं भगवान ऐसे समर्थ सर्वशक्तिमान है उनको भजे जीव के धन्य जो जीवन का भजन करते हैं वो तो धन्य है धन्य इसलिए है कि फिर वो कृतार्थ हो जाते हैं परम गति को प्राप्त कर लेते हैं जो उनके जीवन के जितने भी क्लेश हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं दुखों से छुटकारा हो जाता है परमानंद की प्राप्त हो जाती है उनके ऊपर भगवान की कृपा प्राप्त होती है भक्ति भी प्राप्त होती है ज्ञान भी प्राप्त होता है ये सब उनको प्राप्त हो जाता है और वो धन्य हो जाते हैं निरंतर इसी प्रकार का अभ्यास करते करते एक दिन परमात्मा की पूर्णता प्राप्त हो जाती है परम गति प्राप्त हो जाती है इतनी रखने गते हृदय सुमदीये सत्यम भगवान से भवान शिलांतरात्मा भक्ति प्रवत्सरहितोषरहित कुरुमान संत श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम